हाँ हाँ बेशक तेरे पास मेरी आयतें पहुंच चुकी थीं जिन्हें तूने झुटलाया और गुरूर व तकबर किया और तू था ही काफिरों में